नाथ ना हरि चरित अनुपा व्यासमाति अनुरूप सुतसिद्धान्त हे राम रे राम काज असका प्रभु रघुपति तजे से काहे मुहिसे सठ पर ममता जाहे तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ किन्हि मो पर अति छोहा हे नाथ मैंने श्रीहरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है हे नाथ आप विज्ञान रूप हैं आपको मोह नहीं है आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है पूछेहु राम कथायति कथयति कादि शम्भु मन भावनि सत्सङ्गति दुर्लभ संसारा निमिष दण्ड देखु गरुण विचारे मैं रघुबीर भजन अधिकारी सकुनाधम सब भातिय पावन प्रभु मोहि विदित जग पावन जो आपने मुझसे सुखदेव जी सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है हे गरुड़ जी अपने हृदय में विचार कर देखिए क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया आजु धन्यमय धन्ययते यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मुहि संत समागम दीन नाथ जथामति भाषवो राख नहीं कछ गोई चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ तो भी आज मैं धन्य हूँ अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान कर संत समागम दिया आपसे मेरी भेंट कराई हे नाथ मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहा कुछ भी छिपा नहीं रखा फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं क्या उनकी कोई था पा सकता है सुमीर राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हर सभुसुंड सुजाना महिमान गम नेत कर गाए अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव अज पूज्य चरण रघुराए मोपर कृपा परम मिदुलाई अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊ कही खगेश रघुपति समलेख्यू श्री राम जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कहकर गाई है जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ अतः हे पक्षीराज गरुण जी मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी जोगी सूर सुत सुतापस ज्ञानी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरह न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि शरण गए मो से अघरा से ओ शुद्ध नमामि अविनाशी साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रित्र त्रिशूल सो कृपालु मोहि तो पर सदा रहु अनुकूल सुन भुसुंड के बचन शुभ देख राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले